पिता परमात्मा का ज्ञान स्वरूप में स्मरण करते हुए ओम का उच्चारण ओ धर्म प्रेमी सज्जनों आर्यों को किस प्रकार के भाव रखने चाहिए ईश्वर से कैसी प्रार्थना करनी चाहिए उसका एक और स्वरूप आज के इस मंत्र में है आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश में उनचालीसवां मंत्र है ऋग्वेद का मंत्र तम ही विश्वतो मुख विश्वत परिभूरसी अपन शोषुचत अखम परमात्मा को संबोधित किया गया तम तू आप महर्षि ने इसके लिए संबोधन दिया हे अग्ने परमात्मन परमात्मा के आगे विशेषण लगाया अग्नि का हे अग्नि अग्नि प्रकाश स्वरूप होती है परमात्मा भी ज्ञान प्रकाश से युक्त है इसलिए उसे अग्नि के रूप में यहां संबोधित किया आगे जो प्रार्थना की जाने वाली है उसके अनुरूप यहां पर अग्नि ये संबोधन किया दूसरा अग्नि का अर्थ होता है जो अग्रणी होता है अग्नि अग्रणिर्भवती आगे रहने वाला होता है आगे आगे ले चलने वाला होता है जैसे भौतिक अग्नि प्रकाश हमें अंधेरे में मार्ग दिखाता है हमारे आगे रहता है और हम उसके अनुरूप चलते हैं इसी प्रकार से परमात्मा हमें ज्ञान रूप प्रकाश अग्नि की तरह देता है आगे आगे देता है आगे आगे देने के स्वरूप वाला है स्वभाव वाला है इसलिए उसे संबोधित किया हे अग्नि परमात्मा तो उस परमात्मा को कहा त्वम ही तू ही निश्चय से केवल तू ही विश्व तो मुखा सबोर मुख वाले हो विश्व का मतलब अनेक होता है बहु अर्थ में विश्व शब्द निरुक्त में पढ़ा गया है जैसे कल वाली व्याख्या में शत शब्द था शत शब्द भी बहु नाम में पढ़ा हुआ है सहस्त्र शब्द भी बहु नाम में पढ़ा हुआ है बहुत बहुत सा अनेक इसी तरह से विश्व शब्द भी बहु नाम में पढ़ा गया है तो परमात्मा बहुत से मुखों वाला है उसके बहुत मुख हैं और बहुत मुख कितने हैं सब और उसके मुख हैं जहां जहां भी मुख की आवश्यकता है वहां वहां उसका मुख है यहां जिस संदर्भ में ईश्वर के मुख की बात कही गई उसके ज्ञान को देने के रूप में कही गई है तो जहां जहां ज्ञान देने की आवश्यकता है वहां वहां ईश्वर का मुख भी विद्यमान है जिस प्रकार से हम मुख से बोल करके बता करके अन्यों को कुछ सिखा सकते हैं ज्ञान दे सकते हैं ऐसे परमात्मा का ये भौतिक मुख तो नहीं है जैसे हम शरीरधारियों का मुख होता है लेकिन जिस प्रकार हम अपने मुख से वाणी से ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते हैं बताते हैं इसी प्रकार परमात्मा भी ज्ञान को पहुंचाता है देता है इसलिए ये ही उसका मुख है और वो मुख वहां वहां पर है जहां जहां ज्ञान की आवश्यकता है जहां जहां ज्ञान को लेने वाला है वहां वहां उसका मुख विद्यमान है जैसे हम जहां भी जाते हैं वो हम ज्ञान को लेने वाले हैं आत्मा मनुष्य शरीर में विद्यमान हर आत्मा इस योग्यता को रखता है इस योग्यता को वो अपने में विकसित कर सकता है कि परमात्मा के उपदेश को सुन सके परमात्मा के उपदेश को हर मनुष्यधारी जान सकता है और समझ सकता है इसलिए जहां जहां भी मनुष्य है जहां जहां भी वो गति करता है वहां सब जगह पर ईश्वर का मुख सदैव विद्यमान है उसके साथ साथ लगा हुआ है तो महर्षि कहते हैं त्वम ही तू ही विश्वतः सब ओर से सब जगह परिभूरसी चहु ओर से होते हुए व्याप्त है विद्यमान है यहां भी विश्वतः विश्व शब्द आया जिस तरह से विश्व तो मुखम विश्व शब्द था ऐसे ही यहां पर विश्वतः सब ओर से अनेक जगह से सर्वत्र अनंत जगहों से तो महर्षि कहते हैं सब जगत सब ठिकानों में व्याप्त हो विश्वतः परिभू सिकार्थ का और इसीलिए अतः एवं आप विश्वतोमुख हो तम ही विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसी चूंकि आप विश्वतः परिभूरसी इसलिए विश्वतोमुख हो चूंकि आप सर्वत्र व्यापक हो सब ठिकानों में हो सब स्थानों में हो इसलिए आपका मुख भी सब जगह पे है सब जगह विद्यमान है ऐसे उस परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं हे अग्नि परमात्मा तो हे सर्वतोमुख अग्नि अब अग्नि के साथ में सर्वतोमुख भी जोड़ दिया ऐसा वो अग्रणी है जो सर्वतोमुख है और वो सर्वतोमुख कैसे है वो किस तरह से हमें उपदेश करता है तो महर्षि ने उसको खोला आप स्वशक्ति से सब जीवों के हृदय में सत्योपदेश नित्य कर रहे हो महर्षि ने यहां पर सबसे पहले स्वशक्ति ये शब्द बोला है लिखा क्योंकि मुख शब्द के आते ही हमारे मन में इस भौतिक मुख की परिकल्पना आ जाती है क्योंकि हमारा व्यवहार इसी प्रकार होता है जैसे मनुष्य इस मुख की सहायता से इस इंद्रिय की सहायता से अपनी वाणी को प्रकट करता है अपनी बात को रखता है ऐसे ही परमात्मा का भी कोई मुख हो वो भी किसी इंद्रिय की सहायता से ऐसा कर पाता हो ये सहज ही मन में आ जाएगा उसकी स्पष्टता के लिए कहा कि परमात्मा स्वशक्ति से ऐसा करता है उसको किसी इंद्रिय या भौतिक मुख की आवश्यकता नहीं है स्वशक्ति से सब जीवों के जो भी जीव हैं जो भी आत्माएं हैं उन सबके हृदय में सत्योपदेश करते हैं ये उपदेश परमात्मा का उनके लिए है जो करने न करने में स्वतंत्र है अर्थात केवल मनुष्यों के लिए लेकिन महर्षि लिखते हैं सब जीवों के लिए यदि सब जीवों का अर्थ हम ये लेंगे कि पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष सबके लिए ये जो शरीर हैं विभिन्न वहां तो स्थिति ही नहीं है कुछ उपदेश लेने की और उपदेश ले भी लिया तो वहां करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है ईश्वर के उपदेश को वो ग्रहण नहीं कर सकते और इसकी पुष्टि हम दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं कि ईश्वर ने वेद का ज्ञान केवल मनुष्यों के लिए दिया है अन्य किसी प्राणी के लिए वेद का ज्ञान नहीं दिया है वो उपलब्ध नहीं होता है लेकिन फिर भी सब जीव ये कथन किया गया इसका मतलब ये कि आज जो मनुष्य शरीर में विद्यमान आत्माएं हैं केवल उन्हीं के लिए नहीं जितनी भी आत्माएं हैं जितने भी जीव हैं उन सब के लिए वो आत्माएं जब मनुष्य शरीर में आएंगी तो उनके लिए भी यही उपदेश विद्यमान रहेगा और वो सदा विद्यमान है नित्य विद्यमान है इसलिए परमात्मा जो सर्वतोमुख है वो सब जीवों के लिए है और उनके हृदय में सत्योपदेश नित्य ही कर रहा है रोक करके नहीं बैठा है ईश्वर का सत्योपदेश सदा हमारे लिए विद्यमान है वो कर रहा है लेकिन हमें सबको ये तो अनुभूति नहीं होती कि ईश्वर उपदेश कर रहा है और यदि ईश्वर उपदेश कर रहा है तो हम सब ज्ञानी क्यों नहीं हो गए और उस ज्ञान को पाकर के हम सब वैसे करने भी नहीं लग गए यदि परमात्मा का सत्योपदेश है परमात्मा सत्योपदेश कर रहा है और हमें ग्रहण नहीं हो रहा है तो ये निष्कर्ष निकालना कि परमात्मा का सत्योपदेश हो ही नहीं रहा है ये ठीक नहीं है परमात्मा का सत्योपदेश तो सदैव विद्यमान है वो देने को उद्यत है इसलिए महर्षि ने लिखा आप नित्य ही कर रहे हो हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं हम उसके लिए उद्यत नहीं हैं हम उसकी सदैव उपेक्षा कर रहे हैं तो परमात्मा चूंकि हमें हृदय में सत्योपदेश नित्य कर रहा है सबको कर रहा है तो ईश्वर इसी कारण से सर्वतोमुख कहला रहा है तो महर्षि ने कहा वही आपका मुख है ये जो उपदेश करना है सत्योपदेश करना है यही परमात्मा का मुख है और इस उपदेश की प्रार्थना के बाद में अगला क्या चरण है इस उपदेश से होना क्या है उसको अगले चरण में भी कहा पर परमात्मा का यह सत्योपदेश हमें प्राप्त कैसे हो हम उसे कैसे ग्रहण कर पाए तो जब आर्य इस बात को स्वीकार कर लेता है कि परमात्मा नित्य ही सत्योपदेश कर रहा है उसके मन में परमात्मा के प्रति आदर है वो परमात्मा को पिता मानता है अपने को उस ईश्वर का पुत्र मानता है उसकी आज्ञा पालन में ही वो अपने को लगा रहना चाहता है अब वो इस सत्योपदेश को ग्रहण करने के लिए उद्यत भी होगा यत्न भी करेगा और वो तब हो सकता है जब हम अन्य बातों को हटा करके सांसारिक विषयों से हट करके अपनी कामनाओं को एक तरफ रख करके और केवल परमात्मा का उपदेश सुनने के लिए सन्नद्ध हों जागरूक हों शांति से बैठे मौन से बैठे और तब उसके उपदेश को पकड़ने की चेष्टा करें और तब वो उपदेश हमें प्राप्त होगा और तब हमें लगेगा कि परमात्मा का उपदेश तो सदैव विद्यमान है अनेक बार ये भी प्रस्तुत किया जाता है एक अंश में वो ठीक भी है कि अधर्म और पाप करते समय अन्याय करते समय हमारे मन में जो भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है वो ईश्वर की ओर से होती है और शुभ कर्म करते समय जो आनंद उत्साह निर्भयता होती है वो भी परमात्मा की तरफ से होती है ये अपनी जगह ठीक होते हुए भी जब जब हमारे अंदर भय शंका लज्जा हो तब तब वो कर्म पाप है ऐसी व्याप्ति नहीं बना सकते और जब जब आनंद उत्साह और निर्भयता हो तब तब वो शुभ कर्म है ऐसी भी व्याप्ति नहीं बना सकते बहुत से शुभ कर्म हैं ईश्वर के द्वारा उपदिष्ट हैं लेकिन हमें करने में भय लगता है हमें आशंका होती है हमें ईश्वर के आदेश को पालन करने में भी लज्जा अनुभव होती है वो ईश्वर का आदेश है ये हमें वेद से पता लग रहा है ऋषियों के उपदेश से हमें पता लग रहा है लेकिन फिर भी उसको करने में हमें भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है इसका कारण ईश्वर द्वारा दी गई भय शंका लज्जा नहीं है ये हमारे अज्ञान के कारण से उत्पन्न भय शंका लज्जा है तो भय शंका लज्जा ईश्वर के द्वारा भी होती है और हम अपनी अज्ञानता से भी उत्पन्न करते हैं इसलिए ये व्याप्ति नहीं बना सकते कि जब जब भय शंका लज्जा हो वो वो ईश्वर की तरफ से है और वह वह अधर्म है इसी तरह से विपरीत भी आनंद उत्साह और निर्भयता जब जब हो तब तब वो शुभ कर्म ही है ये भी अनिवार्य नहीं है परमात्मा ऐसा करता है लेकिन अनेक कर्मों में जो ईश्वर की आज्ञा के विपरीत हैं गलत कर्म हैं उनको करने में भी व्यक्ति आनंद उत्साह और निर्भयता का अनुभव करता है अधार्मिकों को धन देना सहयोग करना ईश्वर निराकार है लेकिन साकार ईश्वर के लिए बनने वाले मंदिरों में सहयोग करके जो उस तरह के ज्ञान को रखते हैं वो आनंद उत्साह को अनुभव करते हैं वो अपनी अज्ञानता से ऐसा अनुभव करते हैं ये ईश्वर नहीं पैदा कर रहा है ये जो कसौटी है आनंद उत्साह की जो ईश्वर करता है इसको सब व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकते पृथक रूप से अनुभव नहीं कर सकते उसके अपने भय शंका लज्जा और आनंद उत्साह आदि जो जो उसका ज्ञान है उसके अनुरूप वो उसमें डलते रहते हैं मिलते रहते हैं इसलिए इस भ्रांति में भी नहीं रहना चाहिए कि जब जब ये भय शंका लज्जा हो रहे हैं वो पापी है और जब जब आनंद उत्साह हो रहा है तब तब वह शुभ कर्म ही है धर्म ही है इसे जानने के लिए तो एकांत में बैठ के अपने स्वार्थों को हटा करके राग द्वेष से रहित होकर के बैठना होगा यदि हम उस स्थिति को पा लेते हैं यदि हम आर्य हैं तो अवश्य ये बुरी तरह घटता है लेकिन हम आर्य हैं ही नहीं हमारे अंदर अभी अनार्यत्व है तो हम परमात्मा की ये बात ठीक ठीक ग्रहण नहीं कर सकते तो परमात्मा का ये सत्योपदेश परमात्मा जो मुख लेकर के सर्वत्र विद्यमान है उसका लाभ उठाने के लिए हमें अपने आग्रहों दुराग्रहों को छोड़ करके बैठना होगा अपनी इच्छाओं अनिच्छाओं को लौकिक लक्ष्यों को एक तरफ करके और प्रतीक्षा में श्रद्धा से बैठना होगा तब वो मिलेगा और बैठ के अभ्यास कर लिया है तो चलते फिरते भी वो स्थितियां बन सकती हैं तब ये परमात्मा का मुख हमारे लिए मुख की तरह से बन पाएगा नहीं तो नहीं बनेगा और ऐसा करके हमें क्या करना है आगे क्या होना है उद्देश्य क्या है इसका परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करके उद्देश्य क्या सिद्ध होगा तो परमात्मा से ही प्रार्थना कर रहे हैं आगे के लिए भी अप न शो शुचत अघम न हमारे अघम पाप को अपशोषुचत शोषुचत उसको हटा दो दूर कर दो साफ कर दो शुद्धि अर्थ में धातु धातु है ई शुचिर पूती भावे और उसका ये यंगलुगंत प्रयोग है यंग का प्रयोग या यंग लुगंत का प्रयोग बार बार आवृत्ति के अर्थ में या बहुत अधिक मात्रा से करने के अर्थ में आता है कि आप बार बार ऐसा करो पुनः पुनः करो आप बहुत अधिक ऐसा करो बहुत अधिक ऐसा करो एक बार नहीं तो महर्षि लिखते हैं हे कृपालो ये परमात्मा की कृपा है हमारे पे ये जान देना ये परमात्मा की कृपा है जीव मात्र पे ये हमारे किसी पुण्य का फल नहीं है पुण्य के फल रूप में साधन मिल जाएंगे लेकिन ये जो ज्ञान देता है ये ईश्वर कृपा करके जीव मात्र के लिए देता है सदा विद्यमान है अब ये हमारा पुरुषार्थ है कि हम उसको ग्रहण कर पाते हैं कितना ग्रहण कर पाते हैं तो हे कृपालो अपन शोषुचत अघम आपकी इच्छा से हमारा पाप सब नष्ट हो जाए आपकी इच्छा से हमारा पाप सब नष्ट हो जाए अब यहां पाप शब्द विचारणीय है इसका एक सामान्य अर्थ लोग लेते हैं कि जो हमने बुरे कर्म किए हैं पाप हमारे कर्माशय में जो है वो सब नष्ट हो जाए और कैसे नष्ट होगा आपकी इच्छा मात्र से लेकिन यहां उस पाप का प्रसंग नहीं है मंत्र में शब्द है अघम और उसको महर्षि ने खोला है पाप परमात्मा विश्व तो मुख है उसके मुख से उसके ज्ञान से क्या परिवर्तन हमारे अंदर आएगा उसकी तरफ संकेत है और अघ शब्द का मतलब क्या है अघम आहंती अघम जो आसमता पूरी तरह चारों ओर से हमारा नाश करता है उसे अघ कहते हैं और अघ को जो पाप खोला है पाप का मतलब भी क्या है पांति अस्मात इति जिससे हम रक्षा करते हैं अपनी जिससे बचते हैं जिससे हटते हैं ये लिपट ना जाए जिससे हम बचना चाहते हैं उसे पाप कहते हैं और वो हमारे लिए पतन करता है बार बार नीचे की तरफ जो गिराता जाता है गिराता जाता है उसे पाप कहते हैं महर्षि के अगले वचनों से भी पता लगेगा कि यहां अघ और पाप का मतलब हमारे अंदर का अज्ञान है अविद्या है जिससे कि हमारा पतन होता है जो कि हमारा नाश करता है हमारा नाश करने वाला हमारा अज्ञान है जो पाप कर्म हमने कर दिया है उससे जो संस्कार बने हैं वो भी हमारा नाश करने वाला है आगे और जो हमने पाप कर दिया जो कर्माशय में है वो हमारा नाश नहीं करेगा उस पाप का जब फल मिलेगा ईश्वर की व्यवस्था से वो हमारे सुधार के लिए है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए है पाप कर्मों का जो फल ईश्वर देता है वो हमारे उत्थान के लिए है बढ़ाने के लिए है हमारा नाश कौन करता है हमारी अविद्या करती है अज्ञान करता है जो कि परमात्मा के सत्योपदेश से दूर होने वाला है सत्योपदेश से वही दूर होगा सत्य के उपदेश से असत्य हटेगा तो महर्षि लिखते हैं आपकी इच्छा से हमारा पाप सब नष्ट हो जाए परमात्मा की ये इच्छा है परमात्मा ये चाहता है अब इस वाक्य का दूसरा अर्थ हम इस तरह लेंगे ऐसे लेते हैं लेंगे लेते हैं कि परमात्मा इच्छा करेगा और हमारा ये सारा अघ समाप्त हो जाएगा यानी परमात्मा भी इच्छा नहीं कर रहा है परमात्मा इच्छा करे और हमारा ये अघ और पाप अज्ञान हट जाए एक तो ये अर्थ है इसमें अगर कोई यूं ले हमें तो कुछ करना नहीं है परमात्मा करेगा तो ये वैदिक रीति नहीं है करना तो हमें है तो हमें करना है तो परमात्मा की इच्छा वहां क्या कर रही है जब हमें ही करना है तो परमात्मा की इच्छा के लिए क्यों कहा जा रहा है तो उसका एक ढंग से समाधान है कि एक भक्त की भाषा है वो जानता है कि मुझे करना है और मैं करूंगा मैं प्रयत्न करूंगा और वो प्रयत्न कर भी रहा है और पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि आपकी इच्छा से ये समाप्त हो जाए और दूसरे ढंग से इसका और अर्थ लेंगे आपकी इच्छा से हमारा पाप नष्ट हो जाए यदि परमात्मा की इच्छा न होती विश्व तो मुख बनने की सत्योपदेश करने की तो हमारा पाप कभी भी नष्ट नहीं हो सकता था हमारा अज्ञान कभी भी नष्ट नहीं हो सकता था हम कुछ भी करते कितना भी भागते दौड़ते कुछ भी करते यदि ये परमात्मा का सत्योपदेश नहीं हो तो हम पाप को अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकते और ये परमात्मा का सत्योपदेश कब है जब उसकी वो इच्छा है तो परमात्मा की इच्छा विद्यमान है और वो परमात्मा की इच्छा से ही ये नष्ट हो पाएगा उसकी इच्छा से सत्योपदेश विद्यमान है और तभी ये नष्ट हो पाता है इस रूप में भी हम देख सकते हैं कि आपकी इच्छा से जो कि इच्छा विद्यमान है आपकी चल ही रही है और जिससे आप सत्योपदेश कर ही रहे हो आप विश्व तोमुख बने हुए हो जो ऊपर बताया गया आपकी इस इच्छा से यह हमारा नष्ट हो जाए यानी उसके सहयोग से यह हमारा नष्ट हो जाए अन्यों की इच्छा से नहीं अन्यों के उपदेश से नहीं क्योंकि अन्यों की इच्छा और उनके उपदेश हमें भटका भी सकते हैं पूर्ण शुद्ध नहीं आर्य ये कामना कर रहा है आपकी इच्छा से आपकी इच्छा के माध्यम से आपके सत्योपदेश के माध्यम से मेरे ये सारे पाप नष्ट हो जाएं आपके निर्देश के अनुसार ये सारे पाप नष्ट हो अज्ञान नष्ट हो जाए और जो पाप का अर्थ अपना कर्माशय लेते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो जाए ऐसा महर्षि का तात्पर्य है तो महर्षि की अगली पंक्ति से निरस्त होता है समाधान होता है उसका जिससे हम लोग निष्पाप होकर के या फिर निष्पाप शब्द आया है परमात्मा की इच्छा से हम निष्पाप होंगे पाप नष्ट हो जाएगा तो हम निष्पाप होंगे और निष्पाप होके क्या करेंगे तो निष्पाप होके आपकी भक्ति और आज्ञा पालन में नित्य तत्पर रहें ये जो परमात्मा की भक्ति है ये परमात्मा की आज्ञा पालन है ये कर्म है कि ये निष्पाप होकर के हम भक्ति और आज्ञा पालन कर सकें ठीक ढंग से ये बात ज्ञान के ऊपर ही घटेगी कि हम निष्पाप होकर के अज्ञानता से रहित होकर के शुद्ध रूप में आपकी भक्ति कर सकें और आपकी आज्ञा पालन कर सकें तो कर्माशय वाले पाप को समाप्त करने की कामना इच्छा महर्षि के अभिप्राय से यहां नहीं ली जा सकती तो परमात्मा को आर्यजन मन में इस रूप में स्वीकार कर सकें कि हे परमात्मा आप सर्वत्र विद्यमान हैं और इसलिए आप सर्वतोमुख हैं आपका उपदेश मेरे लिए सदैव विद्यमान है ये कितने बड़े आश्वासन की बात है बहुत बड़ा आश्वासन है ईश्वर की तरफ से बहुत बड़ा निर्देश है कि तेरे को चिंता करने की बात नहीं है तेरे लिए ज्ञान सदैव विद्यमान है दुनिया की कोई भी पुस्तक वेद आदि या और भी कोई शास्त्र समाप्त हो जाए दुनिया के सारे उपदेशक सारे गुरु समाप्त हो जाएं या हमें अनुपलब्ध हों हम किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां ना कोई वेद मंत्र है ना कोई उपदेश है ना कोई पुस्तक है ना कोई प्रवचन है हम अकेले हैं लेकिन फिर भी आर्य को यह विश्वास रहे कि परमात्मा का मुख तो यहां भी विद्यमान है परमात्मा का सत्योपदेश सदा मेरे साथ विद्यमान है भटकूंगा कहा गलत कहां होगा मुझे केवल यह करना है परमात्मा के प्रति उद्घाटित रहना है उसे स्वीकार करने की स्थिति में रहना है इसलिए आर्य को यदि कोई पढ़ाने वाला न भी मिले उसको कोई भय नहीं आएगा उसे कोई आशंका नहीं होगी वो पूरी निर्भयता से पूरे आश्वस्त भाव से अपने जीवन को चला सकता है ये परमात्मा का संदेश है ये भाव हम आर्यों में बने आर्यों की ये ऐसी अभी भी न हो हम परमात्मा को इस रूप में स्वीकार कर पाए कि वो सदैव मेरे को जान देने के लिए विद्यमान है और उसकी बहुत बड़ी कृपा है और उस निर्देश को अगर मैं पकड़ सकूंगा पकड़ता रहूंगा तो मैं कभी नहीं भटकूंगा मैं ठीक उसी रास्ते पे चलूंगा जिस पे परमात्मा चाहते हैं मैं ठीक उसी रास्ते पे चलूंगा जिस पे चल के मेरा कल्याण होगा कृतकृत्यता होगी ये भाव हमारे मन में रहे और महर्षि ने इस मंत्र के भाष्य में वेद भाष्य में भावार्थ में जो प्रारंभ में बात लिखी है वो भी ध्यान देने योग्य है कि मनुष्य ही सत्य प्रेम भावे न प्रार्थितो ईश्वर अंतर्यामी ईश्वर आत्मनि सत्योपदेशन पापात एतान पृथक कृत्य बाकी वही बात है जो यहां कही गई है कब होता है ये जब मनुष्यों के द्वारा अन्य प्राणियों के द्वारा नहीं यहां जो सब्जीव लिखा है और उसका जो तात्पर्य मैंने बताया था महर्षि के उस वचन से भी है कि मनुष्यों के लिए है मनुष्य ही सत्य प्रेम भावे ना वास्तविक भावना से सत्य और पूरे प्रेम पूर्वक प्रार्थित किया गया ईश्वर ऐसे करने लगता है इसको दूसरे शब्दों में कहें परमात्मा का ज्ञान तो सर्वतोमुख है ही पर ऐसा होते हुए सत्य प्रेम भाव से ईश्वर की प्रार्थना करते हुए हम उसके प्रति उद्घाटित हो जाते हैं अपने को खोल देते हैं परमात्मा के उपदेश को ग्रहण करने की स्वीकार करने की स्थिति में आ जाते हैं तो वो होने लग जाते हैं ये भाव हम आर्यों के मन में रहे हमारा मार्गदर्शक ये मंत्र आज की प्रार्थना इस भाव को रखते हुए ओम का उच्चारण और शांति पाठ अंतरिक्षम् शांति पृथिवी शांतिराप शान्तिरोषधयः शांति वनस्पत शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शान्ति शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः सर्वेभ्यो नमः सबको छात्र